सोमा शर्मा भाई रवि श्रीवास्तव जनाब काविश हैदरी साहब मुकुंद कौशल साहब डॉक्टर संजय दानी साहब और तमाम हाजरीन खातन बड़ी खुशी की बात है कि आज दुर्ग भिलाई की सरजमीन पर निरुपमा जी पंद्रह किताबों पर एक लंबी गुफ्तगु साहित्य के इतिहास में नए बाप का आगाज है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब प्रोग्राम के लिए आप तमाम का मैं उम्मीद रखता हूँ आगे भी नए काम होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मसाले राह साबित होंगे साथ ही जो आपने मुझे इस बज़म का सदर इंतखब किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आदावन